परम पिता परमात्मा का स्मरण जगत रचयिता परम पिता प्रणोधनी ओ ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा को ठीक रूप से जान करके उसे अपने साथ में किस प्रकार से जोड़ें परमात्मा के साथ कैसा संबंध बनाएं वो इस मंत्र के अंदर बताया गया आज का मंत्र यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का सत्रहवा मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में तीसवीं संख्या पर है मंत्र में परमात्मा की स्तुति की गई है य इमा विश्वा भुवना निजुफत यह जो जिसने इमा विश्वा इमानी विश्वानी इन सब भुवनानी भुवनों को जितने भी भुवन हैं जहां की प्राणी लोग ठहरते हैं रहते हैं जो निवास के स्थान हैं भवंती भूतानी यस्मिन जिसमें भूत प्राणी रहते हैं उसे भुवन कहते हैं तो इस संसार में जितने भी भुवन हैं जितने भी लोक लोकांतर हैं उन सब के लिए कहा यह इमानी विश्वानी भूतानी इन सब भूतों को भवन भुवनानी यह इमानी विश्वानी भुवनानी जो इन सब भुवनों को लोकों को जुहवत आददत ले लेता है लेता है जुवत हु धातु है तो उसमें दान और आदान दोनों अर्थ होते हैं यहां जुवत का अर्थ महर्षि ने लेना अर्थ किया है परमात्मा इन सब भुवनों को जुवत ले लेता है एक लेना होता है प्रलय काल में जब वो इस समस्त कार्य जगत को उसके कारण में विलीन करता है वापस ले लेता है और सृष्टि उत्पत्ति के समय उसे हम सबको दे देता है ये दोनों परमात्मा के स्वभाव हैं वो ऐसा करता है इसको मंत्र में आगे एक शब्द है होता उससे भी कहा गया है होता जो देने और लेने वाला है इस सृष्टि को देता भी है और इस सृष्टि को लेता भी है लेकिन जुबत का अर्थ महर्षि ने किया कि जो इन सब लोक लोकांतर भुवनों का अपने सामर्थ्य कारण में होम प्रलय करके होम करके होम करके का मतलब है यहां पर ले लेके ले करके इन समस्त संसार को इन समस्त लोकों को बना करके परमात्मा ने इन्हें अपने सामर्थ्य में ले रखा है अपने अधिकृत कर रखा है इनको अपने सामर्थ्य से बना करके छोड़ नहीं दिया है बना करके छोड़ दिया हो और ये अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी चल रहे हों अनियंत्रित रूप से ऐसा नहीं है परमात्मा ने इनको बनाया और अपने सामर्थ्य में ले रखा है अपने नियंत्रण में ले रखा है तो जिस परमात्मा ने इन सब भुवनों को जुवत अपने अधिकार में ले रखा है लिया हुआ है और कैसा है वो तो कहा ऋषि ही वो जाता है सर्वज्ञ है सबको देखता है और कहा होता वो इस जगत को उत्पन्न करने वाला देने वाला और इस जगत की प्रलय करने वाला यानी लेने वाला देने और लेने वाला वही परमात्मा है जो कुछ व्यवस्था की है उसी ने की है और जब उसे लेना होगा तो वो ले लेगा लेकिन ये लेना और देना एक ऋषि कर रहा है एक सर्वज्ञ कर रहा है ज्ञाता कर रहा है अज्ञान पूर्वक किसी को भी दे देना कुछ भी दे देना और अज्ञान पूर्वक ले लेना जब चाहे ले लेना अनियम पूर्वक ले लेना अन्याय पूर्वक ले लेना अज्ञानता से ले लेना ये उसमें नहीं घटेगा वो ऋषि है और होता है ज्ञानवान होकर के वो देता है सोच समझ करके देता है जितना भी देता है जैसा भी देता है वो सब उसका भली प्रकार विचारा हुआ भली प्रकार से ज्ञानपूर्वक निर्णित होता है और जब वो लेता है वो भी बहुत सोच समझ के पूरे ज्ञान के साथ होश के साथ जागरूकता से समझ करके न्यायपूर्वक ही वो लेता है तो परमात्मा ने इन सब लोगों को अपने अधिकार में ले रखा है जैसे कि अपने में होम कर रखा है अपने में लीन कर रखा है ये सारा संसार सारे लोग परमात्मा में विद्यमान है अवस्थित हैं और वो सर्वज्ञ परमात्मा ही इसको देता और लेता है उत्पन्न करता है और नष्ट करता है और कोई नहीं ऐसा जो परमात्मा है पिता नह वो नह हमारा पिता पिता है इतना सब वो कर रहा है इसलिए वो हमारा पिता है जो हमारा पालक है हमारा रक्षक है पितृभाव से युक्त होकर के ही वो इन सब कार्यों को कर रहा है जैसे पिता अपनी संतानों के लिए सोच विचार करके हित भावना से करता है ऐसे ही वो कर रहा है और इस दृष्टि से हमारा सार्वकालिक पिता सदा रहने वाला पिता वही परमात्मा है पिता न वो हमारा पिता है तो परमात्मा के कर्तृत्व को बताते हुए वेद मंत्र कह रहा है कि हम उसे पिता समझें वो हमारा पिता है हम उसको पिता ही समझें लौकिक पिता के प्रति हानि की भावना हो सकती है कि वो अज्ञानता में हमारी हानि कर दे कभी किसी स्वार्थ के कारण अपने पुत्रों की हानि कर दे लौकिक पिता में निम्न स्तर के पिता में यह हो सकता है उच्च स्तर के पिता में यह भी नहीं होता है लेकिन अज्ञानता पूर्वक कभी वो कर सकता है लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है ऋषि है सर्व सामर्थ्य से युक्त है वो कभी भी हमारी हानि नहीं करता ये भाव हमारे मन में हो पिता न वो हमारा पिता है आगे कहा उसने ये जो सारी चीजें हमें दी हैं कैसे दी हैं क्यों दी हैं तो आशीषा द्रविणम इच्छमान वही पिता वही सृष्टि को बनाने और प्रलय करने वाला परमात्मा आशीषा देने की इच्छा से हित की इच्छा से अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद के द्वारा हित की आशंका से कि मुझे इनका हित करना है किनका हित करना है तो पिता के सामने तो उसके पुत्र ही होते हैं और हम सब आत्माएं उसके पुत्र हैं सभी जीव उसके पुत्र हैं तो पुत्रों की हित की आशंसा से वो युक्त होता है स आशीषा द्रविणम इच्छमान द्रविण को चाहता हुआ द्रविण का मतलब है धन और द्रविण का अर्थ है बल दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है निरुक्त में निघंटू में धन को भी द्रविण कहते हैं और बल को भी द्रविण कहते हैं द्रविण शब्द में द्रु धातु है जो कि गति अर्थ वाली है द्रुगत तो इसका जो निर्वचन किया जाता है द्रविण क्यों है ये ये धन द्रविण क्यों है यत एनत अभिद्रवंती कि इसकी ओर सब भागते हैं अभिद्रवंती गति करते हैं दौड़ दौड़ते हैं बहते हैं द्रविण वो है जिसके प्रति हम गति करते हैं उसको पाने के लिए उसकी लालसा में उस ओर भागते हैं तो परमात्मा ने क्या इच्छा की द्रविण की इच्छा की ऐसी चीजों की इच्छा की जिससे ये पुत्र अपना हित साध सके और ये जितने पुत्र हैं वो उसकी ओर भागे हम समस्त जीव इस संसार की बनी हुई वस्तुओं के प्रति भागते हैं हम जल की तरफ भागते हैं वो द्रविण है हम प्रकाश की तरफ भागते हैं हम पेड़ पौधों की तरफ भागते हैं खाद्य सामग्री की तरफ भागते हैं मिट्टी को लेना चाहते हैं विभिन्न चीजें जो भी संसार में बनी हैं हम उस ओर बढ़ते हैं इसलिए ये सारा का सारा द्रविण है तो परमात्मा ने जो ये रचा है वो किस रूप में रचा है उसको द्रविण के रूप में रखा रचा है स आशीषा द्रविणम इच्छमान उसकी इच्छा थी कि मैं द्रविण को पैदा करूं यत एनत अभिद्रवंती जिसकी ओर हम भागते हैं तो द्रविण का जो पहला अर्थ है धन धन वो होता है जिसकी ओर हम भागते हैं लौकिक जो धन है रुपए पैसे उसकी तरफ भी हम भागते हैं उसको लेना चाहते हैं सोना चांदी की तरफ हीरे मोती की तरफ जितने भी सुख साधन हैं प्रकृति के बने हुए उनकी तरफ हम भागते हैं ये सब द्रविण है तो परमात्मा ने जो संसार बनाया है वो द्रविण रूप में बनाया है कि जीव उसकी तरफ भागे जीव उसको प्राप्त करना चाहे ऐसा आकर्षण परमात्मा ने इनमें पैदा किया है इस द्रविण की तरफ भाग के करेंगे क्या क्या इस द्रविण को पाकर के इस चमकदार आकर्षित वस्तुओं को पाकर के इसी में फंस जाएंगे तो द्रविण का दूसरा अर्थ है बल अब इसका अर्थ क्या किया जाता है यत एने न अभिद्रवंती जिसके द्वारा जीव सब और गति करते हैं करण कारक के अंदर पहले कर्म कारक में कहा यत एनत अभिद्रवंती जिसकी ओर दौड़ते हैं जिसकी ओर आकर्षित होते हैं परमात्मा ने बनाया है ये संसार ऐसा और वो चाहता है कि ये जीव इस संसार की तरफ बढ़े इसका उपयोग करें इसको छोड़ करके नहीं बैठे उसने बनाया ही इसलिए है और द्रविण का दूसरा अर्थ जो निरुक्तकार कहते हैं बल यत एनेन अभिद्रवंती जिसके द्वारा ये जीव सब और गति करते हैं हमारी सारी गतियां बल के माध्यम से हैं लेकिन परमात्मा ने जो द्रविण बनाया है वो द्रविण कैसा है पहले हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं उसे धन के रूप में देखते हैं और फिर उसको पाकर के सब और गति करते हैं सब और बढ़ते हैं उन्नति करते हैं ऐसा द्रविण परमात्मा ने बनाया लौकिक उदाहरण एक ले लें कि भोजन की तरफ हम आकर्षित होते हैं उस ओर दौड़ते हैं जहां खाद्य पदार्थ होता है उस ओर हम जाते हैं परमात्मा ने व्यवस्थाएं ऐसी की हैं हमारे अंदर भूख पैदा की है उन वस्तुओं में आकर्षण है उनमें रस है उनमें गंध है जो कि हमें अच्छी लगती है और जिसके खाने से हमारी भूख निवृत्त होती है तो वो भी बल है वो भी धन है द्रविण है और उस द्रविण को पा करके उस भोजन को करके हम क्या करते हैं सबोर गति करते हैं यदि वो भोजन नहीं हो तो हमारी गतियां रुक जाएंगी हम स्थिर हो जाएंगे निष्क्रिय हो जाएंगे तो परमात्मा ने ये संसार किस रूप में बनाया है द्रविणम स आशीषा द्रविणम इच्छमान उसकी इच्छा ये थी कि मैं ऐसी चीज बना दू जिसकी तरफ ये सब जीव आकर्षित हों और आकर्षित होकर के उसको पा करके और फिर सब और गति करें अपनी प्रगति करें उसको पा करके उसमें फंस के बैठ जाए ऐसा द्रविण परमात्मा ने नहीं बनाया है चाहे अन्य जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो ये सब परमात्मा ने हमारी उन्नति गति के लिए बनाया है तो ऐसा विचित्र परमात्मा ऐसा विचित्र ये संसार कि उसको हम चाहते भी हैं और वो ही हमारी गति का कारक है अब इसी में जीवन का सूत्र भी छिपा हुआ है कि परमात्मा चाहता क्या है हमारे से इस संसार का उपयोग करके हमें करना क्या है इस द्रविण की तरफ आकर्षित होते होने वाले पदार्थों को पा करके वहीं तक ठहर जाना है ये हुआ तो यहीं फंसा हुआ रह जाएगा व्यक्ति और इनको पा करके इनसे फिर बल प्राप्त करके फिर गति करे और चारों तरफ गति करे उन्नति करे ये मुक्ति का मार्ग हो गया इनकी तरफ आकर्षित तो होंगे हम इनका उपयोग तो हमें करना होगा लेकिन उपयोग करके इनको द्रविण का जो दूसरा पहलू है सिक्के का दूसरा पहलू है वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए ये परमात्मा चाहता है स आशीषा द्रविणम इच्छमान परमात्मा में भी इच्छा है आशीषा में भी आंग शासु इच्छायाम इच्छा ही अर्थ है और इच्छमाना में भी इच्छा धातु है लेकिन यहां दो बार इस शब्द को पढ़ा गया ये इच्छा कर रहा है कैसे इच्छा कर रहा है आशीषा हित की आशंसा रखते हुए इनके कल्याण की भावना रखते हुए उसने ये सारी चीजें बनाई हैं जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं को हानिकारक समझता है मुक्ति में हानिकारक समझता है वो उसका अपना अज्ञान है परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज मुक्ति में बाधक नहीं है लेकिन उनका कब और कितना कैसा उपयोग करना है ये तो विवेक पर निर्भर करेगा ये विवेक तो रहना चाहिए हम अगर परमात्मा के निर्देश के अनुसार इन समस्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए द्रविण बनेंगे हमारी प्रगति का कारण बनेंगे और यदि अज्ञान पूर्वक इनका उपयोग करेंगे तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है हमने उसके निर्देश के अनुसार उपयोग नहीं किया इसलिए हम वहां फंसेंगे और परमात्मा ने ये जो चीजें दी हैं हमें वो उसकी स्वाभाविक इच्छा है उसकी स्वाभाविक कामना है हित की कामना है इसलिए दी है ये संसार परमात्मा की बाध्यता से उत्पन्न नहीं हुआ है कि जीवों ने कर्म किए हैं और परमात्मा उसके लिए बाध्य है उसे फल देना ही है परमात्मा फल देता है उसका स्वभाव है उसे छोड़ नहीं सकता ये ठीक है लेकिन इसमें परमात्मा की बाध्यता नहीं छुपी हुई है वो स्वतंत्र है परमात्मा क्यों ये संसार बनाता है क्योंकि वो चाहता है ये जीव मेरे आनंद को प्राप्त करें मुक्ति को प्राप्त करें इसलिए वो प्रवृत्त होता है मुक्ति से जो आत्मा लौटती है जिसके पिछले कर्म भी नहीं होते हैं उसको भी क्यों ये शरीर आदि देता है आशीषा द्रविणम इच्छमान कर्म के अनुसार वो देता है बद्धात्माओं को लेकिन वो स्वयं उन कर्मों से बद्ध नहीं है कि उसे देना ही है उसकी अपनी स्वतंत्रता है वो कल्याण के लिए ऐसा देता है यदि उसे कुछ दुख देना होता तो दूसरे ढंग से भी दे सकता था दंड देना हो वो दूसरे तरीके से भी दे सकता था उसे पुरस्कार देना है प्रगति का अवसर देना है तो वो अन्य तरीकों से भी दे सकता था कुछ सुखद चीजें दे करके लेकिन उसने संसार ऐसा बनाया है कि ये द्रविण है हम आकर्षित होंगे और इससे फिर गति प्राप्त करेंगे उन्नति करेंगे तो स आशीषा द्रविणम इच्छमान और ऐसा करते हुए उसने क्या किया प्रथम छत ये जो विस्तीर्ण विस्तीर्ण है प्रथित है सारा ब्रह्मांड लोक लोकांतर उसको उसने अच्छतित भी कर रखा है ढक रखा है उसने अपनी सन्निधि प्रदान कर रखी है हर जगह पहुंचा हुआ है ये सब करके इस विस्तीर्ण समस्त जगत को उसने ढक रखा है प्रथम अच्छत और आच्छादित करके क्या कर रखा है अवरान आविवेश ये जो अवर है उनमें वो प्रविष्ट हुआ हुआ है घुसा हुआ है आच्छादित भी कर रखा है और अंदर भी घुसा हुआ है सब जगह विद्यमान है यहां अवर शब्द आया अवरान अवर और पर ये विपरीत शब्द है पर का मतलब होता है जो पहले का है या श्रेष्ठ है और अवर का मतलब है जो बाद वाला है या निम्न स्तर का है निचली कोटि का है कम योग्य है मूल तीन चीजें ईश्वर जीव और प्रकृति नित्य हैं और ये समस्त कार्य जगत उनके बाद में उत्पन्न हुआ है ये तीनों प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस कार्य जगत के कारण है ईश्वर निमित्त कारण है ही प्रकृति उपादान कारण है और जीव के लिए सृष्टि बनी है उसके कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं इसलिए जीव भी इसमें कारण है तो ये तो पहले से विद्यमान है तीनों ये है पर और अवर ये कार्य जगत है जो कि बाद में बना है इस विस्तीर्ण जगत को जो कि बाद में बना है उसमें ये प्रविष्ट भी है वेदभाष्य में महर्षि ने आकाश आदि शब्द लिख करके अवर को खोला है आकाश आदि ये जो बने हैं बाद में बने हैं और अवर का एक अर्थ होता है निम्न स्तर के निचले स्तर के जैसे कि निरुक्त में भी आता है जो अवर थे उनको उनके लिए ऋषियों ने व्याख्यान ग्रंथ लिखे जो सीधे मंत्रों को नहीं समझ सकते थे अवरेभ्य जो निचले स्तर के थे उतने योग्य नहीं थे उनके लिए ये संसार परमात्मा ने किन के लिए बनाया है उन अवर आत्माओं के लिए बनाया है जिन्हें अभी पर बनना है जो मुक्तात्माएं हैं वो पर हैं वो परमात्मा के आनंद में है उनके लिए ये सृष्टि नहीं बनाई है लेकिन जो अवर है उनके लिए सृष्टि बनाई है और उनको बना करके सृष्टि बना करके परमात्मा उनमें भी प्रविष्ट है क्योंकि परमात्मा उनका हित चाहता है परमात्मा उनका पिता है परमात्मा अपने को इनका पिता मानता है और जैसे पिता अपने अयोग्य पुत्र को जो अभी समर्थ नहीं बना है उसका ध्यान रखता है उसके हित के लिए कार्य करता है उसके को सन्निधि प्रदान करता है ऐसे परमात्मा हम अवरों को उन्नत करने के लिए हमारे में आविषय विवेशा प्रविष्ट किया हुआ है तो परमात्मा इस मंत्र में सृष्टि का रचयिता और प्रलय करने वाला कहा गया उसका रक्षक भी है वो पिता है इसी दृष्टि से उसने इन सबको बनाया है तो एक शिल्पकार है सब प्रयोजन इस सृष्टि को उसने बनाया है केवल अपने कौतुक के लिए बना करके अपनी महत्ता के लिए इसको बना करके नहीं छोड़ दिया है कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि कितना महान अद्भुत चीज बनाई है ये परमात्मा का प्रयोजन नहीं है उसने पिता के रूप में ये चीजें बनाई हैं अपने पुत्रों के लिए तो ऐसा वो शिल्पकार है इसलिए इस मंत्र का देवता है विश्वकर्मा विश्वम सर्वम करोति इति विश्वकर्मा निरुक्त में इसे खोला है ये सब परमात्मा करता है इस कार्य जगत को वो बनाता है वो विश्वकर्मा है समाज में विश्वकर्मा नाम के एक देवता को भी स्वीकार करते हैं लोग जो शिल्पी लोग होते हैं वो विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं वास्तव में विश्वकर्मा वो परमात्मा ही है शिल्पी है वो शिल्पकार है इस संसार को उसने घड़ा है विभिन्न अद्भुत शरीरों को घड़ा है वो विश्वकर्मा इस मंत्र का देवता है हम परमात्मा को विश्वकर्मा के रूप में देखें एक शिल्पकार के रूप में देखें एक ऋषि होता के रूप में देखें और इस मंत्र का ऋषि किसे बताया जिसने इस मंत्र का साक्षात्कार किया वो ऋषि है जिस ऋषि ने इसका साक्षात्कार किया वो कैसा बन गया तो ऋषि का नाम यहां लिखा भुवन पुत्र विश्वकर्मा पहले जिस जिन भी ऋषि ने जिस ऋषि ने इसका साक्षात्कार किया उनका व्यक्तिगत नाम जो भी रहा हो लेकिन इस मंत्र का साक्षात्कार करके वो बन गए थे भुवन पुत्र इस भुवन के पुत्र बन गए थे परमात्मा पिता यह इमा विश्वा भुवनानी जुहवत इन सब भुवनों को जिसने बनाया है और धारण कर रखा है तो इस मंत्र को साक्षात करने वाला भी इस भुवन का पुत्र बन जाता है पुत्र भी रक्षक होता है परमात्मा इस भुवन का पिता है और आत्मा इस भुवन का पुत्र बन जाता है रक्षक बन जाता है और वो भी ऐसी चीजें बनाता है लोगों की ऐसी सहायता करता है जिससे लोग उस ओर आकर्षित हों और उससे बल पा करके प्रगति करें वो भी द्रविणों को उत्पन्न करता है आर्य भी द्रविणों को उत्पन्न करता है धन को उत्पन्न करता है बल को उत्पन्न करता है तो इस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला परमात्मा की भावना को समझ के परमात्मा के कर्तृत्व को समझ के स्वयं भी भुवन पुत्र बन जाता है और जिस तरह से परमात्मा विश्वकर्मा है वो तो व्यापक रूप से है लेकिन वो जीव वो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुरूप विश्वकर्मा बन जाता है वो भी विविध कर्मों को करने वाला बन जाता है विविध रचनाओं को करने वाला बन जाता है जो भी इस मंत्र का साक्षात करेगा इस भाव को समझेगा वो भुवन पुत्र विश्वकर्मा बन जाएगा वो भी ऋषि बनेगा मंत्र का कोई एक ही ऋषि नहीं होता जो जो आत्मा इस मंत्र को समझेगा उसके अनुसार चलेगा वो सब भुवन पुत्र विश्वकर्मा बनेंगे बन सकते हैं तो परमात्मा के प्रति हमारा भाव क्या रहे इस मंत्र में स्वयं परमात्मा ने हमें बताया इस समस्त जगत को बना करके और अधिकृत कर रखा है वो सर्वज्ञ होते हुए इसको उत्पन्न कर रहा है और प्रलय कर रहा है और वो हमारा पिता के समान है और अपनी हित की आकांक्षा से उसने इस द्रविण को धन को उत्पन्न किया है बल को और धन को उत्पन्न किया है और इस विस्तीर्ण जगत को वो आच्छादित किए हुए हैं और जो अवर हैं बाद में बने हैं कार्य जगत और जो अल्प योग्यता वाले हैं अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं उनमें वो प्रविष्ट है हमारे अंदर वो विद्यमान है आर्य इस भावना को लेकर के चले इसे महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को आर्य विनय में दिया है मन में भावना रखेंगे और ओम का उच्चारण ओ